अस बिचार रे नहीं के जेयरो सो कहो हला जी न देई यदो सो म भनि सब सबनेहारा अनेक प्रकार जग जानी जाग जोगे परमारथे थे प्रपंच देव जब जागा जब सब विषय विलास विरागा ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए हो विवेक मोह भ्रम भाव परम पर मारथ हो मन क्रम बचर राम ने राम ब्रह्म पर मारथ मारथरु अविगतयल अनादि सकल विकार रहित गत भेदा कश नित ने निरूपहि विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है हे सखा मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं वे अभिगत जानने में न आने वाले अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले अनादि आदि रहित अनुपम उपमा रहित सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं भगत भूमि भूसुर भे सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तनो सुनत मिटहे जग वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएँ करते हैं जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं सखा समुझे यस परिहर मोहो रघुबीर चरण रत हो कहत राम गुण भिन्ु सारा जागे जग गल सुखदारा सकल शौच करि राम न सुच सुजान बट मगा सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए हे सखा ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया हृदय दाहो अते बदन कर कहकर जोरे बचनयति देना नाथ कहे वसन् कोसलनाथा वैरथ जाहु राम के सा र सरवा आन हुफेरि लखन राम सियम आन हुफेरि संशय सकल सकोच मे उनका हृदय अत्यंत जलने लगा मुँह मलिन उदास हो गया वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले हे नाथ मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना निपयस कहे वो गोसाय जस कहीं करो बलि सो कर बिनते पायन पर दीन बाल महाराज ने ऐसा कहा था अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं मैं आपकी बलिहारी हूं इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया